और हमने तुम पर बादल का साया किया और तुम पर मनोसलवा नाजिल किया खाओ पाक चीज़ों में से जो हमने तुम्हें रिज उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया बल्कि वो अपनी जानों पर जुल्म करते थे